सुफियान बिन उयना ने जोहरी से हदीस बयान की उन्होंने सालिम से सुना वो अपने वालिद से रिवायत बयान कर रहे थे और वो उसकी सनद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचते थे क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से किसी से उसकी बीवी मस्जिद जाने की इजाजत मांगे तो वो उसे न रोके सही मुस्लिम हदीस नंबर नौ सौ अठासी